अब विश्रांति लेने की सबसे अच्छी स्थिति होती है कि आप ये जो लेफ्ट साइड है दावे बाजू इसमें लेटिए उसको राम कुक्षी कहते हैं वो बहुत अच्छा है और किसी कारण नहीं कर सकते कोई मजबूरी इमरजेंसी तो 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठे पांव को पीछे मोड़ के जो वज्रासन है उसमें दोपहर को भोजन के बाद रात्रि भोजन के बाद भोजन करने के तुरंत बाद पैदल चल सकते हैं और जो पैदल चलने की कोई मजबूरी हो तो फिर वहां भी वज्रासन में बैठे अब उसके आगे का नियम है <clears throat> कि आप जब भी भोजन के बाद विश्रांति करें या रात को विश्रांति करें विश्रांति करते समय आपका सिर सूर्य की दिशा में रहे तो अच्छा सबसे अच्छा पूर्व दिशा लेकिन ये एक चीज में वर्जित है पूर्व दिशा बाकी सब में है पत्नी के साथ अगर आप संभोग करते हैं तो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए तब पूर्व की दिशा नहीं चलती अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं ब्रह्मचारी पालन करते हैं उनको हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए पत्नी के साथ नहीं सो रहे हैं तो भी हमेशा पूर्व दिशा में सोना चाहिए पूर्व दिशा में ही सिर करके सोना सबसे अच्छा है कारण क्या है उसका कारण उसका यह है कि पृथ्वी जो है ना बहुत बड़ा चुंबक है मैग्नेट है हर चीज को खींचता अपनी तरफ और चुंबक के दो सुर होते हैं उत्तरी और दक्षिणी नॉर्थ एंड साउथ हमारे शरीर में उत्तर ये है और दक्षिण पांव अगर पृथ्वी के उत्तर में आप सिर करके सोते हैं कल्पना करो तो क्या होगा उत्तर उत्तर दोनों एक साथ आएंगे तो रिपल्शन होता है जब दो समान ध्रुव एक साथ आते हैं ना तो प्रतिकर्षण होता है तो जब आप सोए हैं तो पृथ्वी आपको धकेलेगी तो जब धकेलेगी तो बहुत टेंशन आएगा आपको सिर पर और शरीर आपका छोटा होने की कोशिश करेगा और शरीर छोटा हुआ तो कभी रिलैक्स नहीं हो सकता आराम नहीं मिलेगा फैलना चाहिए तब आराम मिलता है इसलिए उत्तर की दिशा वर्जित है लेकिन दक्षिण की दिशा मैंने आपसे कहा पत्नी के साथ अगर आप संभोगरत हैं तो दक्षिण की दिशा तब उस समय क्या है आकर्षण होगा अट्रैक्शन होगा और उस समय अट्रैक्शन ही चाहिए स्त्री पुरुष मिलन के समय आकर्षण ही चाहिए क्योंकि वहां प्रतिकृषण हुआ तो आप बेकार हो जाएंगे उस काम में वो भी आपको अपना धर्म निभाने जैसा है तो इसलिए दक्षिण की दिशा में उस समय सिर करके सोना जब आप पत्नी के साथ संभोगरत हो और अगर नहीं है तो दोनों को पूर्व दिशा में फिर करके सोना ही अच्छा है वो आप अपनी अपनी कैपेसिटी सामान्य रूप से जो समय है माने सामान्य रूप से जो माना जाता है एवरेज वो तीन से चार मिनट है लेकिन कई लोग हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी है तो वो पांच सात मिनट भी हो सकता है लेकिन तीन चार मिनट सामान्य हाँ उसके लिए तो बहुत कड़क नियम है वो फिर दूसरा शास्त्र में चले जाएंगे हम अगर कभी समय आएगा तो वो उन्हें बता दूंगा उसमें क्या है कि वो फिर जो हमारे देश का सबसे बड़ा शास्त्र है जिसको काम सूत्र कहते हैं संस्कृत में लिखा वात्सायन का वो उसके नियम उसमें चले जाएंगे सब अभी मैंने तात्कालिक रूप से उतना ही बताया उसका तो इतना बड़ा शास्त्र है कि दस दिन भी व्याख्यान दो तो कम पड़ेगा ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सोने के लिए मैंने आपसे कहा कि पूर्व दिशा में ही सोए तो सबसे अच्छा अब सोते समय एक नियम बहुत महत्व का है कि जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए पेट से सांस आपकी हो छाती से नहीं जब आप काम कर रहे हैं तो छाती से सांस होना अच्छा है कोई भी काम करें मेहनत का हो मजदूरी का हो एक्सरसाइज हो जो भी आप काम करते हैं चलना हो उठना हो बैठना हो तो छाती से सांस होनी चाहिए और जब सो रहे हैं तो हमेशा सांस पेट से आनी चाहिए मतलब सो गए आप तो सांस भरेंगे तो पेट फूलना चाहिए सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए ये मूवमेंट में ही सोना सबसे अच्छा है पेट से सांस लेके जो सो सकते हैं जिंदगी पर्यंत निरोगी रह सकते हैं इतना महत्वपूर्ण नियम है ये ऐसा आभास होता है हाँ अगर ऐसा होता है तो ये आपको मानसिक अवस्था है इसके लिए औषधि है ये एक तरह का छोटा रोग है कोई गंभीर नहीं है एक या दो ड्रॉप औषधि लेंगे तो ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा इसके लिए औषधि की जरूरत है ये जो मैंने कहा आपसे कि आप जब भी सोएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपकी सांस पेट से आनी चाहिए कोशिश करिए थोड़े दिन में अभ्यास हो जाए और काम करते समय सांस हमेशा छाती से आनी चाहिए सोने के समय आप ध्यान रखिए फिर सो गए तो आने ही रहनी वैसे ही रहने वाले आप जब हाँ मैं बताता हूँ खराटे के लिए बताता हूँ आप जब सोते हैं तो सोते समय आप जो गतिविधि करेंगे वो फिक्स हो जाएगा आपके कंप्यूटर में हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जैसा आप चाहो वैसा फिक्स हो जाता आप रात को सोते समय मन में तय कर लो कि मुझे पांच बजे उठना है तो बिना अलार्म आप पांच बजे उठ जाएंगे मैं पिछले पंद्रह साल से ये करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन में बहुत प्रवास करना पड़ता है तो कभी ट्रेन मेरी तीन बजे सवेरे किसी स्टेशन पर पहुंचती है कभी ढाई बजे पहुंचती है कभी चार बजे पहुंचती है और ये समय नींद का सबसे गहरी नींद का यही समय होता है एक आज तक भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सोते हुए चला गया और स्टेशन मेरा निकल गया मैं सोते समय और मोबाइल में मैं कभी अलार्म फिक्स नहीं करता क्योंकि जब दिमाग का अलार्म चल रहा है तो मोबाइल का क्यों करना इस्तेमाल मैं सोच के सोता हूँ कि मुझे ढाई बजे सोना है उठना है मेरा स्टेशन तीन बजे आने वाला है तो मैं ढाई बजे का सोच के बराबर दो बजकर तीस मिनट पर एक दो मिनट आगे पीछे आंख खुलते हर एक को हो सकता है आप सिर्फ सोच के सोइए संकल्प करके सोइए मुझे सुबह इतने बजे उठना है तो अपने शरीर में एक जैविक कंप्यूटर है इसमें प्रोग्राम फीड कर दीजिए वो अपने आप उठा देता है कई बार में होता है कि किसी स्टेशन से मैं चढ़ा बारह बजे ट्रेन थी साढ़े तीन बजे दूसरा स्टेशन आने वाला है तो साढ़े तीन घंटे मिलेंगे सोने के लिए तो मैं तय कर लूंगा कि तीन बजे उठना है तो बराबर उठूंगा बाद में उतर के स्टेशन पे किसी के घर जाके फिर नींद आ जाएगी लेकिन उस समय तो बराबर उठ जाऊं ये सभी मनुष्य को है हाँ बता रहा हूं पहले ये समझ लिया कि सोते समय हमेशा आपको पेट से सांस लेनी है छाती से नहीं काम करते समय कभी पेट से सांस नहीं लेनी है छाती से हुँ? हम्म? पेट उठना और गिरना चाहिए पेट से सांस अब आगे सोना कैसे दोपहर को तो मैंने बता दिया वाम कुक्षी में सोना है रात को जब आप सोते हैं तो सीधे सोना है इस पद्धति से पीठ पीछे पीठ ऊपर रात को अगर जिनको नींद नहीं आती जिनको झोंक की तकलीफ है तो सबसे पहले राइट में लेट जाइए रात को दिन में नहीं राइट में माने उजवा तो जैसे राइट में लेटेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल शुरू हो जाएगा चंद्र नाड़ी इससे जुड़ी हुई है चंद्र नाड़ी सक्रिय है तो नींद बहुत अच्छी आती है सूर्य नाड़ी अगर है तो नींद नहीं आएगी सूर्य नाड़ी जो है राइट नॉस्ट्रल है चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल तो जिनको झोंक आने की समस्या है वो रात को पहले ये उजवा बाजू में डावा नहीं उजवा राइट साइड में लेट है तो चंद्र नाड़ी सक्रिय तो नींद अच्छी आएगी और फिर सीधे हो जाए पीठ के बल सोना सबसे अच्छा होता है और सोते समय हाथ जो है ना दोनों ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो बीच में रहें ऐसे यहाँ रखे रहें छाती और पेट का जो ज्वाइंट पोर्शन है यहाँ हाथ रहे तो अच्छा है ये सबसे अच्छी स्थिति है एक आप सोने के बाद तो आपका शरीर खुद ही तय करेगा फिर आप तय मत करिए शरीर को छोड़ दीजिए किधर बाजू में करवट लेना वो अपने आप कर लेगा आप सोते समय ध्यान रखिए और उठते समय ध्यान रखिए उठते समय कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं उठना है राइट से उठना है हमेशा राइट से कैसे उठना कि आप पहले सो गए हैं उठ गए हैं आंख खुल गई है चेतना आप में आ गई है तो आप राइट करवट में लेटिए सीधे हैं तो राइट साइड में फिर उठिए एक स्थिति और भी बहुत अच्छी है सोने की बच्चे कैसे सोते हैं आपने देखा ऐसे सोते हैं और पांव उनका एक ऊपर होता है एक सीधे रहता है इसको बाल आसन कहते हैं ये सोने का सबसे आइडियल पोस्चर है बच्चे कैसे सोते हैं बच्चे को जब आप देखोगे सोते हुए तो वो एक साइड में लेटेगा लेफ्ट या राइट लेकिन एक पांव उसका ऊपर रहेगा दूसरा लंबा रहेगा ये सबसे आइडियल पोजीशन इस अगर लेफ्ट में सोया तो ये वाला पांव ऊपर रहेगा राइट और लेफ्ट लंबा रहेगा और राइट में अगर वो सोया है तो लेफ्ट ऊपर रहेगा और ये लंबा रहेगा तो बच्चों से सोना सीख लीजिए वो सबसे अच्छे तरीके से सो ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे साइड से ही सोते करबट से सीधे सोना बहुत कम बच्चे और वो बहुत स्वस्थ हैं उनकी नींद भी अच्छी है आपने कई बार देखा मैंने कई सारे कैलेंडर्स और पोस्टर में देखा है शंकर भगवान सोते हुए वो आइडियल पोस्टर है वो आइडियल पोस्टर है शंकर भगवान का बाल स्वरूप या कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप वो इसी पोस्टर में सोते विष्णु भगवान को देखा नागशैया पर वो भी बहुत अच्छा तरीका है सोने का लेकिन वो बड़े लोगों के लिए है बड़े से मतलब साठ वर्ष सत्तर वर्ष के ऊपर जिनकी हो गई है तो वो सीधे पांव करके पांव को पांव ऐसे रख के फिर सो सकते हम्म? वो सिर्फ स्त्रियों के लिए है और वो भी तीन दिन जब मासिक पारी चलती है उनके लिए है वो पेट के बल सोना स्त्रियों को उन दिनों में जब उनको मासिक पाड़ी का समय हो तो चार दिन हो तीन दिन हो पांच दिन हो उसका फायदा क्या है कि जब ही मासिक पाड़ी चलती है तो ये जो गर्भाशय है ना वो एक्सपेंड होता है बड़ा होने की कोशिश करता है तो पेट के बल सोने से उस पर दबाव रहता है तो वो बराबर अपनी स्थिति में संकुचित ही रहना अच्छा है उसका क्योंकि उसका एक्सपेंशन होना ठीक नहीं होता उन दिनों में और उससे भी अच्छी तो एक अवस्था है हम लोग उसको मकर आसन कहते हैं मकर आसन मकर देखा मगर ये ये स्थिति महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होती है मासिक पाड़ी के समय सोने के लिए दोनों पैर पीछे फैला देना और हाथ को ऐसे रखना और पेट के बल पांव ऐसे फैला के रखना वो सबसे अच्छा है सिर्फ महिलाओं के लिए पांच दिन पेट के बल सोने के लिए परमिशन है बाकी किसी के लिए और उनका है मासिक पाड़ी नहीं तो उनको भी नहीं सोने के लिए ऐसे नहीं अच्छा बहुत तकलीफ प्रोस्टेट हो जाएगा हर्निया हो जाएगा दोनों ही होने वाले हैं अपेंडिसाइटिस भी हो जाएगा है ही नहीं वो उसके लिए हमारे कंपनी के लड़का है तो हमेशा पेट के ऊपर सोचना सीधा होता हाँ, हाँ क्योंकि ये तीन रोग जरूर होते हैं पुरुष अगर सोएगा ना तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आएगा हर्निया आएगा अपेंडिसाइटिस आएगा